सिस्टम ने बताया कि विक्रांत का आज का सक्सेस रेट पिचासी प्रतिशत तक था सच कहें तो विक्रांत अदृश्य शक्ति के सिस्टम के इतनी जल्दी प्रदर्शित हो जाने से हैरान था अभी तो शाम के सिर्फ पांच बज रहे हैं और इतनी जल्दी उसका टास्क खत्म हो गया जबकि हर बार उसका एडवेंचर आधी रात के बाद खत्म होता था लेकिन आज न जाने क्यों उसका एडवेंचर इतनी जल्दी खत्म हो गया वैसे पिचासी प्रतिशत सक्सेस रेट कोई खराब भी नहीं था इसके साथ ही उसे गिफ्ट में एक जादुई चाबी भी मिली थी जिसकी मदद से वो कोई भी लॉक खोल सकता था वैसे विक्रांत को आज कोडवर्ड में तूफान और पानी शब्द मिला था तूफान तूफान का मतलब स्टेटस से था लेकिन आज तो उसे जॉब से सस्पेंड कर दिया गया था यानी उसका स्टेटस नीचे हुआ था इस चीज से विक्रांत को ये बात समझ में आई कि अगर कोई कोडवर्ड मिलता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उससे जुड़ी कोई अच्छी घटना ही घटित होगी जैसे कि अगर अदृश्य शक्ति द्वारा अगर पैसे को शो करने वाला कोटवर्ड चंद्रमा दिखाया जाता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ पैसे मिलेंगे ही हो सकता है कि पैसे का नुकसान भी हो जाए फिर अगर बात करें दूसरे कोटवर्ड की तो ये था पानी जो कि लड़की के मिलने का सिंबल था इस सिंबल के हिसाब से विक्रांत को जो आज लड़की मिलनी थी वो रिया ही थी रिया के साथ विक्रांत का अच्छा वक्त बीता था शायद इसीलिए आज उसका सक्सेस रेट पिचासी प्रतिशत तक था उस बार विक्रांत को अदृश्य शक्ति द्वारा गिफ्ट के तौर पर एक जादुई चाबी भी दी गई थी लेकिन अभी विक्रांत को ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो इस चाबी का इस्तेमाल कहाँ करेगा आखिर ऐसी कौन सी सिचुएशन आने वाली है जहां उसे किसी लॉक को खोलने की जरूरत पड़ेगी और उसे वहां जादुई चाबी का इस्तेमाल करना पड़ेगा विक्रांत अभी भी बाथरूम में लगे आईने में खुद की शक्ल को देख रहा था शावर का पानी अभी भी उसके गंजे सिर से फिसलते हुए पूरे शरीर पर गिर रहा था आ, यार भूख लग रही है मुझे सबसे पहले चलकर खाना खाऊंगा आईने में देखते हुए ही विक्रांत के मुंह से निकल गया हालांकि विक्रांत ने दोपहर में ऑफिस से लौटने के बाद खाना खाया था लेकिन फिर भी उसे इस वक्त भूख लग रही थी नहाने के बाद विक्रांत तुरंत ही तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकला और फिर कुछ खाने के लिए निकल पड़ा अपने साथ वो मकान मालिक की बेटी रिया को भी ले गया रिया भी अपने पापा की नजरों से बचकर विक्रांत के साथ निकल पड़ी रेस्टोरेंट में खाते वक्त ही विक्रांत को ऑफिस से कई लोगों के फोन आए अब जाकर उसके ऑफिस वाले लोगों को पता लगा था कि विक्रांत को सस्पेंड कर दिया गया है सुबह से ही वो सब काम में व्यस्त थे इस वजह से उनका ध्यान विक्रांत पर गया ही नहीं और विक्रांत ने भी ब्यूरो चीफ अमृत के ऑफिस से निकलने के बाद किसी से कोई बात नहीं की थी वो चुपचाप ऑफिस से निकलकर घर आ गया था ऑफिस वाले सभी लोग विक्रांत के पास कॉल करके उसका हाल पूछ रहे थे संगीता जतिन राघव सुनिधि समेत एक एक करके ऑफिस के सभी लोगों ने विक्रांत के पास फोन किया था कोई उसे सलाह दे रहा था कि उसे ब्यूरो चीफ अमृत अभिजात से माफी मांग लेनी चाहिए तो कोई कह रहा था कि उसने जो किया बिल्कुल ठीक किया कुछ गलत नहीं किया है सो उसे किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है वहीं कुछ लोगों में तो ये भी कहा कि वो सब मिलकर एक पिटीशन साइन करेंगे और डिपार्टमेंट के हायर अथॉरिटी को लेटर भेजकर विक्रांत की बहाली कराएंगे इस बीच विक्रांत के पास टीम लीडर चेतन राय का भी फोन आया चेतन ने भी विक्रांत के साथ सिंपैथी जताई और उसने विक्रांत को बताया कि उसने deputy bureau chief Mitali madam से बात कर ली है और उन्होंने बताया कि अभी अमृतसर बहुत गुस्से में है एक बार वो थोड़े नॉर्मल हो जाएं तब हम दोनों जाकर तुम्हारे बारे में बात करेंगे चेतन का फोन आना विक्रांत के लिए बड़ी बात थी उसे उम्मीद नहीं थी कि कभी चेतन भी उसके पास फोन कर सकता है चेतन का फोन आने से विक्रांत बहुत खुश था उसने मन ही मन चेतन को पार्टी देने का प्लान बना लिया था विक्रांत का यही नेचर था वो पल भर में किसी से खफा हो जाता है तो फिर अगले ही पल अगर सामने वाला इंसान उसके साथ कुछ अच्छा कर देता है तो फिर वो उस पर मेहरबान भी हो जाता है विक्रांत को सस्पेंड हुए तीन दिन बीत चुके थे इन तीन दिनों में विक्रांत ने जिंदगी को अपने हिसाब से जिया था खुद के लिए उसने वक्त निकाला था हालांकि इन तीन दिनों में भी उसने बहुत सारे काम किए थे तीन दिन की छुट्टी में उसका पहला दिन तो उन ब्लाइंड्स को जेल से बाहर निकालने में चला गया जिन्होंने विक्रांत के कहने पर साजिद की गर्लफ्रेंड की टांग तोड़ दी थी वो पूरा गैंग विक्रांत के लिए बहुत वफादार हो चुका था उन्हें बस विक्रांत के इशारे का इंतजार रहता था फिर वो कुछ भी करने को तैयार रहते थे विक्रांत भी उनका पूरा ध्यान रखता था उन सभी को जेल से बाहर निकालने के बाद विक्रांत ने उन्हें दारू पार्टी भी दी थी उनके साथ विक्रांत ने भी जमकर शराब पी थी इसके बाद विक्रांत ने उन्हें काम के पैसे भी दिए हालांकि वो पैसे पकड़ने को राजी नहीं थे लेकिन विक्रांत भी पर ही था उसने जबरदस्ती धमकाकर उनके हाथ में पैसे रखे थे इसके बाद दूसरे दिन टीम लीडर चेतन राय संगीता के साथ ही सभी टीम ए के मेंबर उससे मिलने के लिए आए पहले तो सभी विक्रांत की नई हेयर स्टाइल देखकर चौंक पड़े गंजा होने के बाद विक्रांत काफी अजीब सा लग रहा था विक्रांत की टीम वाले उससे मिलने पहली बार उसके घर आए हुए थे तो विक्रांत ने भी उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखी घर पर ही उसने खूब खाने और पीने का इंतजाम किया साथ में विक्रांत ने भी उनके साथ खूब शराब पी जब तक सब शराब के नशे में चूर ना हो गए तब तक पीते रहे टीम लीडर चेतन ने उसे बताया कि वो लगातार उसे बहाल कराने के लिए काम कर रहा है जल्द ही वो पिटीशन साइन करके सीनियर अथॉरिटी को भेजने वाला है और फिर विक्रांत ऑफिस ज्वाइन कर सकता है इसके बाद तीसरे दिन विक्रांत से मिलने के लिए टीम बी के ऑफिसर्स भी आए जिनके साथ मिलकर विक्रांत ने साजिद को अरेस्ट किया था टीम बी के लगभग सभी मेंबर काफी यंग थे देव अमित सुदेश इन सभी की उम्र विक्रांत के बराबर की ही थी एक जैसी उम्र होने के साथ ही ये सभी काम करने के मामले में और व्यवहार के मामले में भी विक्रांत जैसे ही बेबाक लोग थे इस वजह से विक्रांत की इनके साथ खास दोस्ती हो गई थी ऊपर से जब से विक्रांत ने मंजू के कातिल को पकड़ने में इनकी मदद की है तब से ये सभी विक्रांत की बहुत इज्जत करते हैं विक्रांत के कहने पर ये कुछ भी करने को तैयार रहते हैं देव ने जैसे ही सुना कि विक्रांत को सस्पेंड कर दिया है वो तुरंत ही अपने साथियों के साथ अमित और सुदेश को लेकर विक्रांत के घर पहुंच गया उसने विक्रांत से कहा कि टीम बी की तरफ से उसे पूरा सपोर्ट मिलेगा और वो खुद भी अपनी तरफ से सीनियर अथॉरिटी को एक लेटर लिखकर विक्रांत को बहाल करवाने की मांग करेगा विक्रांत उन सभी को लेकर बार में गया था वहां उसने उन तीनों को जमकर खाना खिलाया और दारू पिलाई इस तरह से तीसरे दिन भी विक्रांत ने खूब शराब पी पार्टी के बीच में ही देव ने मंजू के मर्डर केस की बात छेड़ दी उसने बताया कि अभी भी साजिद ने कुछ क्लियर नहीं बताया वो लगातार यही कह रहा है कि उसे कुछ याद नहीं है अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर बाद में पुलिस को मजबूरन साजिद को ही दोषी करार देकर केस चलाना होगा क्योंकि सारे सबूत और गवाह उसके ही खिलाफ ही है और साफ लग रहा है कि मंजू मैडम का कत्ल उसी ने किया है विक्रांत ने बड़े ध्यान से देव की सारी बात सुनी वो मंजू के मर्डर से जुड़ी और भी कई सारी बातें उन लोगों से पूछना चाहता था लेकिन अब तक वो तीनों ही शराब के नशे में चूर हो चुके थे और कुछ बताने की स्थिति में नहीं थे इसलिए विक्रांत ने भी ज्यादा पूछताछ करने की कोशिश नहीं की